بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم कलाम का उनवान है मस्जिद है कहा मुसलमान भूल गए हैं आज की हालत हजरा के मुताबिक जो मुसलमानों के हालात चल रहे हैं दुनिया भर में और मसाजिद की जो हालत हो चुकी है उस मौजू को ध्यान में रखते हुए इस कलाम को लिखने की कोशिश की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए आमीन इस घर की शाम मुसलमान भूल गए हैं इस घर की शाम मुसलमान भूल गए हैं मस्जिद है कहाँ मुसलमान भूल गए हैं सारे ज़माने की बातें यहाँ चल रही हैं सारे ज़माने की बातें यहाँ चल रही हैं ये बैठे हैं कहाँ मुसलमान भूल गए हैं ये बैठे हैं कहाँ मुसलमान भूल गए हैं बेखौफ तजारत करते हैं लेकिन बेखौफ तजारत करते हैं लेकिन खौफ खुदा और सोना हाँ, हाँ, मुसलमान भूल गए हैं खौफ खुदा और जबा मुसलमान भूल गए हैं महफिल दुनिया में मस्त लोगों को खबर नहीं महफिल दुनिया में मस्त लोगों को खबर नहीं बाबरी मस्जिद की दास्तान मुसलमान भूल गए हैं बाबरी मस्जिद की दास्तान मुसलमान भूल गए हैं कितनी आबाद है मस्जिदें खुद से पूछो कितनी आबाद है मस्जिदें खुद से पूछो उफ ये आवाज़ आसा मुसलमान भूल गए हैं उफ ये आवाज़ आज़ा मुसलमान भूल गए हैं दावे इश्क इश्क बहुत है औलिया से लेकिन दावे इश्क इश्क बहुत है औलिया से यहाँ लेकिन गौस व ख्वाजा का फरमा मुसलमान भूल गए हैं गौस व ख्वाजा का फरमा मुसलमान भूल गए हैं ख्वाब गफलत की ये नींद अच्छी नहीं शाकिर ख्वाब गफलत की ये नींद अच्छी नहीं शाकिर क्या है दीन व ईमान मुसलमान भूल गए हैं क्या है दीन और ईमान मुसलमान भूल गए हैं इस घर की शान मुसलमान भूल गए हैं मस्जिद है कहाँ मुसलमान भूल गए हैं मस्जिद है कहाँ मुसलमान भूल गए हैं